हाथ में तो बानी उठा ली आज की बहानी का तो जो अब वो बनाए बढ़िया रे बानी का जो और मरदान बढ़िया बानी का बहाने वहाँ पे ले जाए जो मेरे सरदार देख बोलो गुरु जी मैं जरूर भी गुआई लेके जाऊंगा परसन होकर बग बग पग वाला या दीन दिया देवा जी यहाँ कशो घर बार थे हम जो भी था बाहरा में तो गया था अरे कहा सु धनवान था रवा से लाऊ ये वीरा मारे पास को ये बाजा का गला लाग रहा थे यह बाजा की पोट बांध बांध रुपये थार कर बदला कोई यहाँ धनवान को कन्हई गुरु जी गुआरी में जरूर भी ले जाऊंगा तो शंकर महादेव महाराज वो पानी में सुख भर दो वो अर्घ लेने वाली पानी भगवान में उठाता शंकर की लीला से भर दो वो और जो जो धोड़े में पटक दिया वो पानी का जो पैदा होता नेवाजी ये जो ले ले नेवाजी ने की एक एक दूसरा का पन्ना में ले लिया ने वो सरदार देख बोलो कि श्री नाथा गुरु जी गजब कर दी ये टेम को डरे और लपटो हुए ने इतनी स्वीप भी तो आपने जो नहीं दिया कि बेटा मारे पास में तो यही जो छे जी जा तू तो नहीं तो सरदार का तन में जो जोश आई थी आंख लाल पड़ गई मूछा का कोया लाल झक पड़ गया और तो नेवा सरदार की मूछ रोश में फसबा लाल गुरु जी काहे गुरु तो तू गुरु जी से और जगदिया और होतो ने तो मार मार चामी उंडो पड़ तो रोश ही रोश में वह गांठ दीने दुसाला थे जो पोलिशी गांठ लगा ली और जवा की गांठ जो खाना पर फटक तोई और ने उस जो फंस धारियों चल चंद्रियों से साथ चल तो कहीं देखा वह ढीली गांठ बंद की कांटो लागता ही खेर को और वह फूट पड़ी के गांठ तो केला में जो पकड़ता बकरता जावन जबकि परवाही नहीं लाओगे बकर बाद बकर तो जो को कहीं रंगा अपन ले नेहा जी का मन में दिया था कि जो को कहीं रंगा अपन दे तो पुष्पों में गेला में बखरता लिया और दो चार जो जो फटेवड़ी की गांठ में पटका ही रह गया चौबीसी भाई बगड़ाओ तो बराजमान हो गया था वहां निवास सरदार से बहुर भोज देख बोले का कोहने वाली मिलो गाय को दनी खे दादा भाई मिलो थे बग बग हाँस वाणी वो सरदार लागे दादा भाई कहीं तो नहीं बताओ अरे तनी तो शो मिलो तो मुझे रखो लियो ताप तो नारो जो तो पानी में हरो थे अशी तरकीब को जो मैंने गाय को दनी तो मिलो थे तो। दिमाग कहीं दिया तो रोष के माते वह पोटली झरकाई तो जो काज हीरा मोती बन गया हीरा मोती जादव भक्त तो कहीं चोश बेटा उठाओ सा तो भूल गया कि बिना क्यों कहीं मैंने कभी देखे ही वो हीरा मोती पर चतर सुझान भोर भोजी जो अकल को भी हो हाथ में देखे और सदा ये तो हीरा मोती कितना भी दिया था गुरु जी ने दादा भाई हीरा मोती હાંચડા મોટી છે હતી તો ઓરે આપણ ન્યા લો બેઠા દુષ્ટિ ખાંડ ઓડાયો કે મને તો ભયા રોશ ही રોશ મેં પોલી ગાંઠ બાંધ લીને एक बेला में पकड़ी गया कहने वाजी गजब कर दी तुमने गरु जी शाह टूट गया था जो आपने साथ पीढ़ी टाइम आया नहीं चाला खां गांठ खुली थी तो सो इस बेटा बुरा था हेरबा भी किया पर माया तो बादल जो खिली हुए और परवाही जो माया भूल जाओ जीक न माया बेड़ियों वाला बलागी तो बादल बेड़ो माया बेड़ियों जाओ જાવ जी उड़ वाला લાગે પછી તેમ કોઈ પતો ઘણી હેરી પણ માયા કા કોઈ પતા નહીં હાર પર તાર तो इसमें तब घाव खा जाए ब्राह्मण नेवाजी तू और मटोल मत से कितने गजल की बात कर दी अशो समझो तो नेवाजी फिर भी तने के दादा भाई मने कहा याद किया का हीरा मोती बन जाओगा तो मैं एक ने भी ना पकड़वा दे तो अच्छी तरह गांठ लगा के और सब भया कर कर दे तो ला या आसनी सोडताई दस पांच दस दक्षिणी भी हुआ तो रोजी नहीं गाई तू तू तर बाबू नंबर रहो मीनो बीस दर हुआ और बहुत जी देर हो बोला दादा भाई नेवा सरदार अब मैं गुरु जी के पास में ग्वालियर बनवास से अपने तो नेहरू जी जोश बेटा बढ़ा तो विराजमान हो जाते प्रेम से गया कराए थे और कहीं ना कहा जी गुरु जी के पास में आया ले बकवास से दुगाना जावे वे गो सवाई वो मारे दारे तालो तेरा राजा ચાલ્યો ગારુ કે પાસ દાણે મારા ચાલ્યો ગારુ કે પૂજો ગારુજી કે રામ ધૂણી પયા તું જોતે રાજા शाबाजी का पलक लाग गया मोज तू तो काई ने माया तो दीनी जी राम गरु माया तो दीनी जी रे कोष अब पाठी तो ले ली रे तो घोर भोजी मैं ले भगवान से जो चंद छठी चालता चालता हूँ गुरु को स्नान अरे मरदा जब आयो थे मठिया में गुरु जी साहब रहते भौर भोज जार हाथ जोड़ के विराजमान हो जाते भोज हाथ जोड़ कर सेवा करवा के वास्ते लाही जा तो कई दिन ताई जो भौर भोज ने सेवा करी थी एकदम जो अना चक्का जो महादेव हाथ का पलक लिया गुरु जी देख बोला कि दिखा तू कौन थे तो गुरु जी रसिया खोजी थी कहले बायो कि नाथ जो आपने गुआरी दी थी और वो माया दी थी वहां ताई नेवा जी के ताई तो आपने फाची दिशी दिशी फाची कोट ली ये नाथ तो में देवो में देवो नहीं से और माया जो मारता है तो बग बग हथिया एक चार बुझा था नाथ शंकर महादेव देव बोला के देखो यहाँ कोई पदार्थ थोड़ा कैसे माया था ये थाना देव जरूर नाराज हो गया और भोजी पगा पंचायत नाथ गरीब लोग था माने माया जरूर नहीं तो नाराज हो गया करो जी तो शंकर महादेव देव बोलो के देखो माया क्यों उठाना ता तो कड़ा तेल को भर और तो चढ़ा दी उसे नीचे आग बढ़ा दी कि तेल में सो माया उकल जाओगे ये तेल जब ही मैं सो हाथ गाल गादर माया तुम्हें भोगी दे दूंगी और मैं स्नान ध्यान करवा जा रही तो गुरु जी तो स्नान ध्यान करवा पधार गया और भोजी जो तातो तेल તેલ કરવા ગવા लाए वो तो जल्दी जल्दी उखाड़ा नहीं कि गुरु जी माया में सुई है आप आना जो बिल्कुल सुर कर दे तेल में तो उसी तरकीब से जो ध्यान लगा तो जो और गुरु जी जो स्नान ध्यान करवा दिया तो भौर भोज जो चढ़ देखे तो गुरु जी के ताई नहीं दिखा आस पास भौर भोज नंगे करे तो जो पूछा को ताबिया को झूम को छोड़ी वो आश्रो तेरी भोज जी ने मन में विचार करो जो है तो गुरु जी ने कोई लंबी सफर कर गया और ये पूछा वो को आप ले और ये साथ बनार जो आप खोल दिया तो कहीं देखा गुरु जी तो शाम ध्यान करवा के वास्ते गया है और यू कहीं देखा जी जो बनारा का ताल लागवा गया वो ले तुमको लगावा लाग जाए फसल है रबाना लगावा ये लागे जोर मलदारे खोल कसन भंडार वारदार सरुपुर कसन भंडार ये हराम दी कहर पाया खाए गल्ला भवानी वा तो भवानी तो भवानी महानी गोड़ी वा तो सगत सामने तार जय मतवारा की यहाँ माने आप हमारे भोजनी दुबा का हरा हम गोरी बातों का शन भंडारा चे आज घेरे बौणी बंदरी रे पाई ना ते क्यों रे भवारी कोए रूप প্রশ্ন সোজিরে গুণী এ আজ গোড়ি রে যোগী সে জগতি রে দেখবা জানো রে রূপ গোছে রাজা તો ગરુજી તોષના ધ્યાન કરવા તો આથી ભૂલે ગયા तो તાજા બોલે તો ઝમકો આરે સામને જો સામા માણસ તાળો એને લાગી દીધો ભોજી ને બચારી મને કે દેખાય कृष्ण મठाना का ताला को तो खुला एक गुरु जी नारन्याव जी के पहली माया दीख जाओ तो हम लोग बांध को उठा जाए ये है ये ताला जो शुरू को ताला खोजो तो जी में बने बने का गल्ला दी गया दूसरो आगे भंडार दी दूसरा को ताड़ो खोजो तो उड़न फकेर घोड़ा महाराज जी विराजमान हो जाए तीसरो ताड़ो खोलियो नगी तरवाहिया शस्त्र पात्या हुआ कोई भठार खोलियो छो तो जो भठार खोलियो तो जी में मन ख्या अंधी खाया जा में मन ख्या मोड़ी थरपड़ावे बिलगुसिया कीड़ा की भोज जी देख एकदम सु घबराई ना गुरु जी भगवान शंकर महादेव महाराज जी का ही काम करे जी मन ख्या मोड़ी थरपड़ा जी सातों कसम भठार खोलियो तो पाएगा मैं सातवां भंडार में जो पौड़ी घोड़ी जो पाएगा मैं बदी पौड़ी घोड़ी ने देखता ही भौर भोज खुशी घोड़ी तो बेटवा के लाई थे तो अठी नजर जो भोज की बौड़ी घोड़ी में पड़ी और बौड़ी घोड़ी की नजर जो भौर भोज में पड़ी भौर भोज भी सामरा पूछा को बहाकरी में वीर जो दो सरदार इनको रूप भी देख या बौड़ी घोड़ी भी खुशी होगी कि जो बेटवा के लायक हो जावे तो छठे महीना का सकराम जो तुम रात जो लड़ू आ गई तो सकराम में बढ़ू पाजी पाजी में तो घोड़ी भी भोजी ने देख पसड़ो तो भोजी देख बोलो वो हमारी थी घोड़ी जो अफसोस में पड़ती है दूसरी तने यहाँ भंडारा को हुकुम ने भेज दियो जो तुम्हें भंडार खोलता खोल तो आई के गुरुजी तो स्नान करवा तो वास्ते गया है और मारवा से जो यूं की थे कि बेटा ये तातो कड़ाव कर रखाण जे ये उकलता उकलता तेल में सुत में माया खाद में खास फासवा दीजिए तो गुरु जी तो, तो सा ध्यान से यार पूछा वो जो को पढ़ियो तो पाठ में उन्हें ले तो जो मुताड़ा खोल बकवा चला जी अरे के दूसरी काहे काहे रचना देखी कि कोई एक भंडार में तो बाजिया देखी दूसरा में उधर फकीर घोड़ा देखा और तीसरा में जो माने शस्त्र पाती देखा छोटा में अंधी खाया देखी जिन्हें मरीजा की जोड़ की और सातवां बढ़ार में भवानी थारा दस मार भाई घोड़ी घोड़ी देख बोलो देख भोर भोर जो अंधी खया देखी जी ने तो तू वहां गुरु जी नहार आया और तू वहां में वो भारत में गुरु जी मार देगा रूटी खा की माया ले बायो जी हो तो ये ताड़ो फाचो लगा साथ ही बठाना चाहिए और पाचो कट जा गुरु जी ना आवे जी के पहली भाग खा लिया जी के भोजी कम्बा वाला पाचा फीट देता ही बौड़ी घोड़ी देख बोले कि देख भर बोल मैं एक बात बताऊं तो तुझे तू भूल मत जाए तो को भवानी तो देख बौड़ी घोड़ी मारो नाव से सब टाउन को उतार से मार मैं पूजी बात में याद रखानी तो को भवानी कहीं बात ना याद रखाऊं तो देख गुरु जी आओगा स्नान ध्यान कर तो तने तो फेरेगा वो कराओ का आगे जो घर बात और थारी उकर हम बट गया तो तुलसी करिए गुरु जी इतना आगे करेगा तो तू आगे मत हो जाएगी पहली गुरु जी आगे बैठी ये गुरु जी कराओ का चक्कर देवा लागे और तू बर्बाद रो कर हम गुरु जी तो वह तो महादेव श्यामी थी वे तो मरेगा ने और सुनना का पोता बन जाओगा फिर वह प्रसन्न हो जाओगा थारे तो को भोजी जो मांगनी हो सुबह से मांगनी जब फिर यो ध्यान रखान जे या बौड़ी घोड़ी समझा रही भोजी यो ध्यान रखान जे कि वो प्रसन्न हो जावे जब फिर वहां तीन वचन मांगे तो जी मांगू तो सही पर मैंने तीन बचन दू तो गुरु जी इतना बचन दे देगा तीन या मैं तीन ही बचना में याद रखा जे भूल जे मत कहीं चीज मांगे वो के एक बचन में तो बारह बत्ती की माया दूसरा बचन में बारह बत्ती काया तो तारी उम्र भी बढ़नी चाहे तो बारह वर्ष की माया बारह बत्ती की काया और तीसरा वचन में बौड़ी घोड़ी मांगी तो गुरु जी बौड़ी घोड़ी दे दो बौड़ी घोड़ी को पूर्व मन फंगा बौड़ी घोड़ी को जो तू नाव ले गो वहां तू नाव लेता है गुरु जी जी थारा पे ग्रीष्म में आ जाओ दो चार तारना देवी पाड़े तो ग्रीष्म में फिर बौड़ी घोड़ी के तने जो कहेगा कि बौड़ी घोड़ी को भेज तुमने बताइए तो फिर तू यह करी कीजिए कि गुरु जी आप सेवा करे था अग्रहण का टाइम में मैं आपकी पक्ष करे तो जब श्रीनाथ ये पर्वत में आप ता भी रहा छो तो ये पर्वत में नार बेगड़ा रीछड़ा ये दुनिया भर का जानवर आपके पास में आवे आपकी पगले साथ भगवान तो मैं नारा तू डरे छो ये आपकी कुटिया का छाजा है या छाजा के पिंड में लुक जाओ तो बहुड़ी वारस पाताल में बता કરે છે या उल्टी तरीके यहाँ में तकलीफ दिमाग में देता है भूल मत जाए या बचन छोड़ता है तो मैं फिर करूँगी माताएं भी दे देगा तो मदार का ताला फाटो लगा तो लगा तो जितने गुरु महादेव महान आया स्नान कर जीते छुपा से आ एक जोड़ कड़ा मुझे लगा लगा वाला है गुरु शंकर महादेव महाराज आएंगे बेटा हम माया दू कहा गुरु तो हो जागे तो गौणी का होश में कोई बात तो याद नहीं पाई चतडार गुजरी तो छेड़ो पाई चतडार आगे हो गयो भूल गयो गौणी की बात गुरुजी ने बात भर के ऊंचो उठायो ऊंचो उठा था जी ने आगे का भी ना आप तो बात भूल गया अपना गुरुजी का आगे हो गया ये तो पहले गुरुजी आगे होना चाहिए तो आप ना पट दे था गुरुजी ने पटक पटकवा लगा गुरुजी गोजी के साथ तो अकल को वजीर सो तो रशु आप गोजी ओ लाडी कराव के पग धर पे लाडी के गोजी को तब गुरुजी ने बोला कि बड़ा होशियार निकला तू तो तू तो खिलाड़ी जा पूजी के गुरुजी भूल गयो मैं क्यों चोश बैठा बैठा उसमें अणजान था मैं तो गुजर मैं कहीं जाना मैं तो गया इतना और रहा था अच्छा ज्ञान में मैंने जाना पहले आप फिर आगे जी के बाद माफ आप अच्छा तो गुरु जी कहीं देखा आगे हुए और कहीं भोजी जो बात भर गुरु जी ने भटक गए Oh, Thank you. राम तीन जबारे बदन सारी सोताई और घोर भोज देख बोला कि गुरु जी तेली आप भरवा दे तो गुरु जी ने चक्कर लगाए कढ़ाव से तो भोज जी ने बर्बाद एकदम से जो कढ़ाव में दिया भटकता तो देर हुई सुनकर भोला जी सुना का पोता करके और कढ़ाव में करवा बचन हो गया दिन दिया हंस के देख बोला कि भोज जी मांग रही हो जो बेटा तू मांग ले अपने गुरु जी को मांग गुरु जी ने दान गुरु जी धौर भोज देख बोला के धौर भोज जी कैसे के देखो गुरु जी वचन तो मेरे तीन वचन मारते हैं देखो वचन दिया का तो बाद में निकल आपने तो महादेव महादेव बोला जाओ बेटा तीन वचन है कीन बचन मांग ताई गरु जी गौणी को नाम लेकर नारा ले जाते बिटी गोल की तू गौणी ने ताई जाने ताई पे खान सात मठारा में बदली जी गौणी पाताल में बदली उन्हें कुछ क्या देख ली गरु जी को हाथ जोड़ के देख बोले दीनाथ जो आपके स्थान में चांद की टेन में नार वगैरह जो आवे था जो आपकी पगला काटे तो वहां का डर की में ये आपका ये मठ है ಗಾಧೀನೇ ಜೊತೆ तो आप दिमाग से पाताओं से बाधा करेगी ये वजह से मैंने गुरु जी ने आपके जो वह गुरु पाताओं से बाधा करेगी मार वह मन जाए तो गुरु जी बहुरी को नाव लेता है तो गुरु जी पर बचन दीजिए आप बचन हर क्या हो शंकर महादेव देव बोले जाओ और जी और बारह बच्ची का यार बारह बच्ची का एक लाख माया उठाओ